उन्होंने कहा हमने तुमसे बुरा शगुन लिया अगर तुम बाज ना आओगे तो हम जरूर तुम्हें रजम कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा